भला खुदाए रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे काफिर लोग तो निरे धोखे में पड़े हुए हैं